और जब उन्हीं में से एक गुरोह ने कहा ए यसरब वालो तुम्हारे लिए यहां ठहरने का कोई मौका नहीं जान अजीज है तो वापस अपने घरों को चले जाओ और उनमें से एक गुरोह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वापस जाने की इजाजत मांग रहा था ये कहते हुए कि बेशक हमारे घर गैर महफूज हैं हालांकि वो गैर महफूज नहीं थे वो तो सिर्फ भागना चाहते थे